कह दो कि मेरा परवरदिगार हक को ऊपर से भेज रहा है और वो गैब की सारी बातों को खूब जानने वाला है